जय रघुबर जय सियावर जन के भरता पालक पोषक भय हरता जय रघुबर जय सियावर जन के भरता करता धरता दिन बंधो दीनानाथ दिन के दाता जो धाता गुण गाता चरणों में मन लाता पाता प्रसाद आता न पास उसके कोई विषाद साता सरसाता पुलकाता रंग राता जय रघुबर जय सियावर जन के भरता पालक पोषक भय हरता फिरता मगन होले आशीर्वाद जग का खाता फिर भाता वही गाता तुमसे ताता दृढ़ हो नाता जन जन में तन मन में घर घर में जल थल में सागर में गिरवर में व्यापक तुम्हारा तेज है त्राता जय रघुबर जय सियावर जन के भरता पालक पोषक भयहरता करता धरता दीन बंधु दीनानाथ दीन के दाता जो धाता गुण गाता चरणों में मन लाता पाता प्रसाद आता न पास उनके कोई विषाद हरसाता सरसाता पुलकाता रंगरा था जय रघुबर जय सियावर जन के भरता पालक पोषक भय हरता धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम राघवेंद्र के विजय से गूंजा मिथिला धाम सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह यो तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ नैनों को है लाल सा निरखे यह आनंद दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद इस चाव में कुछ समय रहे इस चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह फिर राघव के पास आ बोले सहित सने भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बहन उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नयन तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश दोनों ही दिश बन गया बने बना सावेश जनकपुरे दुल्हन बने दूल्हा कोशल देश प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस क्षत्रिय समाज में राघव ने रघुकुल की ज्योति जगाई है यश और विजय के साथ साथ सीता से दुल्हन पाई है हो चुका क्षत्रियोचित विधान अब लोक रीत करने चलिए गुरुवर सीता वर वरणी से रघुवर वर को वरने चलिए मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है फूलान समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है सुनते तो यह है भाई ने पूर्ण किया मिथिलेश्वर का शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयं बरका का यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है पर भाई तो आए न अभी कब आएंगे क्या लिखा है सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है रघुकुल कारवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है पत्रिका न है मिथिलेश्वर के यह छात्र परीक्षा का फल है गुरुकांत तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है आ सके न इससे राम यहाँ बंद रहे कड़े बंधन में है श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं दशरथ बोले हो गए ढेले अब वह डोर निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर जैसे हो टूटा वहाँ प्रणवाला प्रतिबंध मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे बंधन वे तोड़ नहीं सकते वे बंधा हुआ ही आएंगे गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बरात जो आज्ञा कहते हुए उठे निपति सालाद पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद मिथिला को साजे सभी सजा कर साजे रूप मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप महल महेपति का हुआ महामोद आगार महिलाएं करने लगे मुदित मंगलाचार इंतजाम करते हुए बीती सारी रात रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात पाल के ऊट गजरथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं जज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज कर में राजे हैं सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं सुरगुर नायक के समेत यह शोभा देख जाए हैं श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम झोली मृदु बोली में जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी दध में नकुलवा आदि मार्ग में मिलते जाते हैं सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं बिना दिए थे जनक ने बीच बीच बरबास जाते थे करते हुए वही बरात निकाल हुआ पहुँचने का भी मिथिला में शुभ योग भेंट सहित भेटे सभी अगवानी को लोग देखा जनित ने जनवासा परमार्जित परम सुसज्जित है जिसके सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है मानो त्रिभुवन भर के संपत्ति त्रिभुवन पति हेतु इकट्ठे थे या जगदम्बा के सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रगति थी परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाए पूरी करता था तन की सेवा के साथ साथ परचर्या मन की करता था कितने ही सूर कितने ही सूर्य दृश्य देख सुरपुर का चयन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर लेखनी वहाँ की महिमा का पुराण पार पा सकती है लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है सुना बरात का आगमन उमगे दोनों भ्रात गांध तनय से जान ली मन से मन की बात बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ दूंगा निपके के हाथ में आज तुम्हारा हाथ